ये मोमिन और काफिर दो फरीक हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है अब इसका फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा